आप जो धारा दौड़ा था तो आपने जिंदगी बताई थी क्या कहाँ કાંઈ गुजरान करेगा ये वीराओ आप सब भाई कहाँ का पढ़ना और आप सब से डाल डाला नहीं तो आप तो देखो आभार की सेम तो ये थी जो तो घने जोरदार था पर दुनिया भर आपने जो लूटता पड़ा था ना तो दुनिया भर यूं कहते तो पकड़े रास्ते बचेला ये वीराओ लेकिन अपना आपने भी कहाँ कहाँ थार जमा और कहाँ कहाँ से ठगाणो देखा जो ताकि आप भी नहीं बनाओ हो जाओ या शिवराज ने देताई और करतार को जी मिलाबो हो मारो अपने दूधो खटानो गोद को तो गुजर दो तो सात छोड़ लेते और अच्छी जो काल दुकान पड़ी तो जुड़ी आवा के वास्ते लगे तो वहां के तो कहीं देखा एक बारह वर्ष की लड़की थी तो कहीं देखा भगवत के और दूधा खटाना का कोई बात नहीं बेदा हुए कहीं देखा सगाई जाओ की बात বোঝা হয় খাটানো রাম গুজার বলে খাটানো 大家。

तो काजो साॼू तो फेरा रे

हमें जो मंगल होती है मर गई है माता साडू ने डवरिया में पठान कर भोज जी को बच्चे वो जोड़ दे और भगवत जी ने साथ जो फेरा साडू माता के साथ में खा लिया पहन के और हतरे वो जोड़ के विराजमान भोज जी हो जाते दो खटाणो देख बोलो के देखे भोज जी हे मना छोटे साडू माता को हतरे हो साती फेरा की तुम्हें साथ जो गया में जाएगा मैं साडू माता की तो भगवान भोजी ने अगला वो छोड़ दियो थे और साथ ही मेरा के साथ जो ढोरा है बताई दे दीजिए और भोजी देख बोला के देखो अब आपने साथ गाया भी होगी तो आप तो इस बेटा बढ़ाओ तैयार गाया गायन करावा हाँ? और तू तो खटाओ भी आपके साथ में थे ये काल दुकाना में जो मालवा सोची आ गया तो यहाँ भी थोड़ा घना बिना साथ दे दिया तो तू तो खटाणो और तो इस बेटा बढ़ाओ जो प्रेम तू गया कराया जाती तो कहीं देखा बाद में नेवाजी का लगन है तो कहीं देखा गढ़ मथा आवे और कहीं नेवाजी को भी बिहार 所要的。የቅድመ ተራዲሴና መማረዳኔ ቅድመ ተራዲሴ

शिवन किनार तेरे लिए कारण गोरे नाम ने कारण है नहार मार नार के कारण करे राम डाई सुने वाली आज सात गाया तुझे बिगड़ जाएगा strength, gin if� kiya vaahha, Allah pehari maiter ae paranya cheeita ma. sayna me, leveea aara lai ka paariya, te فيong aifari haapena, te राम जगे जगे तो आज ना पारण ये महारावत सरदा हार मान नारे महारावत तो अरे आज जी के रानी सलावण नार नारे ये पढ़न जी ना दे बार तारा अब पढ़न

미워지가 다이다고요. 얘기야. तो बगड़ावत तो इसी बेटा बगड़ावत जगह जगह अच्छी बढ़िया बढ़िया छोड़ देते और तो इसी बहन की शादी होगी महारावत की की नहर को नाम सनावर तो सभी भाइयों गुजरा में प्रेम से पढ़ गया थे तो यहाँ के पास में थोड़ा बहुत धंधोल भी हो गयो और वह गाया हो गया तो इसी बेटा बगड़ावत देख बोला देखो गिरा दियो अब आप थाना में पटका और आपने इसके ऊपर काम करा जो इसको कोई पार दे और सराय को गांव से और वहां पर जो बन जावा तो काहे रेखा से बेटा बड़ा हो जावे है काहे रेखा जो जाके को मसाले के सारे है बसाली गो हाँ उठ ये तो ईशान हमारे ना Soy ese man. 啊！ टकरावे राम गाया वे तो तो तो ही रे गड़ा पते ते थारी कोट भवारे अब बुला जहाँ राम जान अब बरत गुजार बसे

नंजा और नीर सूजू नीर का भी कहीं ठिकाना कोई नहीं है और घास का भी कोई ठिकाना कोई नहीं अब गया हूँ वीर भाड़ी से देखा कोई ऊंचा चढ़ गढ़ा पेड़ देखो जो कहीं देश में कोई सीमे हो जो है तो आपने जो आपने गया ले और वो चला यह के कहीं तो न्यू सदा चढ़गढ़ की बुर्ज है और देखे कहीं तो जो मेहर नजर पसार फरसनी के देखे तो कहीं भी बीजो सुनो तो सदी के आगे अधम दशाने तो बगला भूता दिख गया और पीजला चमकता दिख गया ये सरदार देख बोलोगे लेकिन दादा भाई बोल अधम दशाने है जो पीजला चमक गया है और वहाँ जरूर बुगला भूत गया है वहाँ जरूर कोई प्रसाद हो रही है तो वहां जरूर भी आप लोग कहीं गढ़ भी मिलेगो और वहां पर गायन है घास भी हरियल मिलेगो तो गोश्त ने तो कहीं देखा जब तू इस बेटा पकड़ा होते गायन लेके o gaynedamı selamı davet. नेगारा ये याद है गुजर रे जावे थे डूंगर डूंगर के महान मार रान डूंगर के पार बात है ते बुलागे रे जतू जो बुलागे रे महान को यस साथ फाड़ा के रे जंगल पार बात महान मारे राज जंगल मेरे मार तो यारे दे

करने बचारी मन में ये बात हमारी नारे छाती को शिवड़ा तुम्हारे दाने ते जावे गाया के मान मारे धारे जावे ते गाया के भोज घी गाय मारे दाने का मारे भोजारी की दारू जी धारी जमर तारे आज घेरे तनु ताई तो गया बेड़े वो जावे श्याम को है की गाई मनसू ये वाटले रमारी ना जावे छे मीना वो यार चरता तो तू इस बेटा पकड़ाओ तेरे कहने जो डूंगर पर्वत में बचे दीजिए एक बलंग आयो दो बलंग उला गया सात डूंगर पर्वत उलांग के और जहाँ कोई सीमित होना हरियल घास दिखायो गाय के वास्ते जो नर्मल नीर दिखायो चोरिश बेटा बना देख बोला देखो भैया हो चौ तरफ डूंगर डूंगर से तो आपन लगाया गाया को यहीं चौपो ढाल गया और यही गाया ने चरवा दिया आपन और यही आप चोरिश बेटा बगड़ा तो मस्त रहना सभी भैया के जिंदगी भैया बढ़िया तो चारों से और आपने गाया यही चरवा दिया दो चार दिन जो चरता होया और वहाँ बता में शंकर महादेव महाराज का जो कोई स्थान था और वहाँ जो कुटिया बन रही थी शंकर महादेव महाराज ने किसी पर काम की माया रूपी रचना करके हाथ फेर के मेल उतार मेल की गाय बना ली दूजा सिंह की गाय बना और न तू तो तनु था प्रभात ना जो वहाँ बगड़ा संगी गया हुआ गाय चली जाओ चरवा चरता चरता छह महीना जो गाय ने हो गया तो गाय किसी टेम सु जावे कठी तो તો યુદ્ધન ઉઠાઈ ગયા કે બેડે જાળવા और उठी शू गया जो बगड़ा उत्तरार लावे श्याम की टेम हुए और गाय मनसु फट और सूदी जो पर्वता में जा और शंकर काष्ण के ऊपर जार विराजमान गाय हो जा बगड़ाओ तो शाम की टेम ने गाय ने घनी तो फेरे कि या गाय छे गुण की या आशी दनुकता तो गया हो जाओ से बेड़ी और शाम को टेम होता है फाची ऐसी डूंगर में जाओ जी तो घनाई उन्हें फेरे पर फाची फरे नहीं वही जाती जो विराजमान हो जाओ मीना गाया नहीं ढूंढी गाई ने गाई ने करता हूँ जो ये एक दिन का सेना जोग में तो नहीं वो सरदार पर को सरदार तू शाम में आप पहुंचा को भाकड़ी मुछा को बावन हस्ती को नेवाजी में चोट चो बड़ को कोई प्रणाम ये का शरीर में कोई नहीं छो लुटेरे बोलो दादा भाई आज चाहे लाख जतन हो जाओ शाम का टेम में गाय की लार की लार जाओ चाहे यहाँ खा तय जाओ पड़ी को पूरा भेद लेकर में आऊँ लग देखो दादा દેવું कौन કણા गाय छे છે कौन કુણકી गाय छे ને तेरे तो सर्वाधिक नहीं दादा भाई छह महीना हो गया आज मैं जरूर भी गाय की लहर में जाऊंगा तो शाम को टेम हो नेवा सरदार का हाथ में एक दोगड़ा को पूछो वो तो गुआड़ भाई तो था ही दोगड़ा को पूछो हाथ में लेके और धर दो खंडा पे और गाय का जो फाचे फाचे चाल तो जा रही गाय एक डूंगर उलाएंगे दो उलाएंगे चार उलाएंगे कई पर्वत उलांग के और शंकर का पलक लाग रहा था वहां यू का ही आश्रम से जाकर विराजमान हो ने वो सरदार जंगल पर्वत में जा रहे वो बड़ी बड़ी तो जटा थे और पलक लाग रहा थे यो कौन चीज थे यो कदी तो न्यो जी बतलाओ तो बस बोले को नहीं नेवा सरदार ने कहीं बात कायम कर ली कि छह महीना ताई बोले को जहाँ तई यार हूँ पण इन्हें बुला रही मुझे तो छोड़ो तो वहीं ने ਨਿਉ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਸੇ ਲਾਈ दो चार दस पांच सात दिन होया और गुरु जी की आंख खुली शंकर महादेव देव बोलो के बेटा तू कौन है हाथ जोड़ने हुई देव बोलो देखो मैं न्यू सरदार तू जात को गुजर तू तू इस भया पकड़ा होता कि भाई जोड़ से और यहाँ गया तरावा के वास्ते डूंगर में आया था यह आपकी गाय है इन्हें छह महीना चलता हूं क्या तो गुरु जी आज मारता है छह महीना की गुआड़ी जोड़ मारता है देनी चाहिए जब जाऊंगा ना तो कितने भी नहीं जाऊंगा ये आप पक्की मान लीजिए नहीं तो आप जानता हो कि भाई डर जाओ डरूंगा ना इसलिए नाता में लेकिन आज तो गुआड़ी जरूर भी मुझे जोड़ रही हूँ आपसे जुड़ी हूँ तो तरीके ताई कहीं गुरु जी प्रश्न हो गए और कहीं नेवाजी ने गुआड़ी दे Oh जोगी चारा मैंने वामा तो बाबा तो जोगी तारे तो के मानी ने तो पाका डूंगर के कहाँ से लाऊं धन वाले ने वाले कहा से लाऊं धन